जीने वाला चित्त ही प्रभु के सतत स्मरण में उतर सकता है और सतत स्मरण में उतरने का अर्थ है एक क्षण भी अगर पूर्ण स्मरण में उतर जाए तो सतत स्मरण बन जाता है भूला नहीं जाता भूलने का उपाय नहीं प्रभु की एक झलक मिल जाए तो भूलने का उपाय नहीं एक क्षण भी द्वार खुल जाए और हम देख लें कि वो है फिर फिर कोई हर्ज नहीं हम कभी न देख पाए तो भी भीतर उसकी धुन बजती ही रहेगी श्वास श्वास जानती ही रहेगी रोआ रोआ पहचानता ही रहेगा कि वही है वही है वही है पूरे जीवन की ये धुन बन जाएगी कि वही है लेकिन एक क्षण भी कृष्ण कहते हैं सतत प्रति क्षण निरंतर व्यवधान न हो जरा भी तब मुझ में प्रतिष्ठा है एक क्षण भी हो जाए तो निरंतर हो जाएगा एक क्षण कैसे हो जाए कहा जाएं हम उस क्षण को पाने के लिए वो मोमेंट वो क्षण कहा मिले कि एक बार दरस परस हो जाए एक बार आंख के सामने आ जाए उसकी छवि एक बार हम स्वाद ले लें उसके आलिंगन का एक क्षण के लिए कहा जाएं कहा खोजें स्वयं के ही अंदर उसके अतिरिक्त कहीं कोई और उससे मिलन न होगा अपने ही भीतर और अपने भीतर जाना हो तो जो जो बाहर है उसके इलिमिनेशन के अतिरिक्त और कोई विधि नहीं जो जो बाहर है ये मैं नहीं हूं ये मैं नहीं हूं इस बोध के अतिरिक्त भीतर जाने का कोई उपाय नहीं सुनिए मैंने एक छोटी सी कहानी वो मैं आपसे कहूं एक जैन फकीर हुआ उसके पास उसके मंदिर में जहां वो ठहरता है उसके वृक्ष के नीचे जहां वो विश्राम करता है दूर दूर से साधक आते हैं दूर दूर से साधक आते हैं उससे पूछते हैं ध्यान की कोई विधि वो उन्हें ध्यान की विधियां बताता है वो उन्हें कोई सूत्र देता है कि जाके इस पर ध्यान करो एक छोटा सा बच्चा भी कभी कभी उस वृक्ष के नीचे आके बैठ जाता है कभी उसके मंदिर में आ जाता है बारह साल उसकी उम्र होगी वो भी सुनता है बड़े ध्यान से बैठ के बड़ी बातें उसकी समझ में नहीं भी पड़ती हैं पड़ती भी हैं क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता कई बार जिनको पड़ता है कि समझ में पड़ रहा है उन्हें कुछ भी समझ नहीं पड़ता और कई बार जिन्हें लगता है कुछ समझ में नहीं पड़ रहा उन्हें भी कुछ समझ में पड़ जाता है बहुत बार ऐसा ही होता है कि जिससे लगता है कुछ समझ में नहीं पड़ रहा कितना भी समझ में पड़ जाना कोई छोटी समझ नहीं है वो छोटा बच्चा आके बैठता है कोई साधक कोई सन्यासी कोई योगी आके जैन फकीर से ध्यान के लिए कोई विषय कोई ऑब्जेक्ट मांगता है वो देखता रहता है उसने देखा कि जब भी कोई साधक आता है तो मंदिर का घंटा बजाता है झुक के तीन बार नमस्कार करता है झुक के विनम्र भाव से बैठता है आदर से प्रश्न पूछता है मंत्र लेता है विदा होता है फिर साधना करके वापस लौट के खबर देता है एक दिन सुबह वो बच्चा भी उठा स्नान किया फूल लिए हाथ में आके जोर से मंदिर का घंटा बजाया जैन फकीर ने ऊपर आंख उठा के देखी कि शायद कोई साधक आया लेकिन देखा वो छोटा बच्चा है जो कभी कभी आ जाता आके तीन बार झुक के नमस्कार किया फूल चरणों में रखे हाथ जोड़कर कहा कि मुझे भी वो मार्ग बताएं जिससे मैं ध्यान को उपलब्ध हो सकूं उस गुरु ने बहुत बड़े बड़े साधकों को मार्ग बताया था इस छोटे बच्चे को क्या मार्ग बताया लेकिन विधि उसने पूरी कर दी थी इनकार किया नहीं जा सकता था ठीक व्यवस्था से घंटा बजाया था हाथ जोड़कर नमस्कार किया था चरणों में फूल रखे थे विनम्र भाव से बैठ के प्रार्थना की थी कि आज्ञा दे मैं क्या करूं कि ध्यान को उपलब्ध हो जाऊं प्रभु का स्मरण आ जाए उस छोटे से बच्चे के लिए कौन सी विधि बताई जाए उस गुरु ने कहा तू एक काम कर दोनों हाथ जोर से बजा लड़के ने दोनों हाथ की ताली बजाई गुरु ने कहा कि ठीक आवाज बिल्कुल ठीक बजी ताली तू बजा लेता है अब एक हाथ नीचे रख ले अब एक ही हाथ से ताली बजा उस बच्चे ने कहा बहुत कठिन मालूम पड़ता है एक हाथ से ताली कैसे बजाऊं तो उस गुरु ने कहा यही तेरे लिए मंत्र हुआ अब इस पर तू ध्यान कर और जब तुझे पता चल जाए एक हाथ से ताली कैसे बजेगी तब तू आके मुझे बता देना बच्चा गया उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया वो वृक्ष के नीचे बैठ के सोचने लगा एक हाथ की ताली कैसे बचेगी बहुत सोचा बहुत सोचा आप कहेंगे कहा के पागलपन के सवाल को उसे दे दिया सभी सवाल पागलपन के हैं कोई भी सवाल कभी सोचा होगा इससे कम पागलपन का नहीं रहा होगा कोई सोच रहा है जगत को किसने बनाया क्या एक हाथ से ताली बजाने वाले सवाल से कोई बहुत बेहतर सवाल कोई सोच रहा है कि आत्मा कहां से आई एक हाथ से ताली बजाने के सवाल से कोई ज्यादा अर्थपूर्ण सवाल है लेकिन उस बच्चे ने बड़े सद्भाव से सोचा सोचा रात उसे ख्याल आया कि ठीक मेंढक आवाज करते थे उसने भी मेंढक की आवाज मुंह से की उसने कहा कि ठीक यही आवाज होनी चाहिए एक हाथ की आके सुबह घंटा बजाया विनम्र भाव से बैठ के उसने आवाज की मुंह से जैसे डॉक्टर टर्राते हो और गुरु से कहा देखिए यही है ना आवाज जिसकी आप बात करते थे गुरु ने कहा कि नहीं ये तो पागल मेंढक की आवाज है एक हाथ की ताली की आवाज दूसरे दिन फिर सोचकर आया तीसरे दिन फिर सोचकर आया कुछ कुछ लाया रोज रोज लाया यह आवाज यह आवाज गुरु रोज कहता गया ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं वर्ष बीतने को पूरा हो गया वो रोज खोज के लाता रात कभी कहता कि झिंगुर की आवाज कभी कहता कि वृक्षों के बीच से गुजरती हुई हवा की आवाज कभी कहता कि वृक्षों से गिरते हुए पत्तों की आवाज कभी कहता कि वर्षा में पानी की आवाज छप्पर पर बहुत आवाजें लाया लेकिन सब आवाज गुरु इंकार करता गया कि नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं फिर उसने आना बंद कर दिया फिर बहुत दिन गए वापस लौटा घंटा बजाया पैरों में फिर फूल रखे हाथ जोड़ के चुपचाप पास बैठ गया गुरु ने कहा लाए कोई उत्तर आवाज खोजी कोई उसने सिर्फ आंखें उठा के गुरु की तरफ देखा मौन चुप गुरु ने कहा ठीक है यही है आवाज मौन चुप गुरु ने कहा यही है आवाज तुझे पता चल गया है एक हाथ की आवाज कैसी होती है अब तुझे और भी कुछ आगे खोज करना है उसने कहा लेकिन अब आगे खोज करने को कुछ भी ना बचा एक एक आवाज को खोज कर आप इंकार करते गए इंकार करते गए इंकार करते गए सब आवाजें गिरती गई फिर सिवाय मौन के कुछ भी ना बचा पिछले महीने भर से मैं बिल्कुल मौन ही बैठा हूँ कोई आवाज ही नहीं सुस्ती कोई शब्द ही नहीं आता मौन ही मौन और अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए एक हाथ की आवाज जान पाया नहीं जान पाया मुझे पता नहीं लेकिन इस मौन में मैंने जो देखा जो जाना शायद लोग उसी को परमात्मा कहते हैं एक एक चीज को इनकार करते चले जाना पड़ेगा किसी से भी शुरू करें शरीर से शुरू करें तो जानना पड़ेगा कि शरीर नहीं भीतर जाएं श्वास मिलेगी जानना पड़ेगा श्वास भी वो नहीं और भीतर जाएं विचार मिलेंगे जानना पड़ेगा विचार भी वो नहीं है और भीतर जाएं वृत्तियां मिलेंगी जानना पड़ेगा वृत्तियां भी वो नहीं और उतरते जाएं और उतरते जाएं भाव मिलेंगे जाने की भाव भी वो नहीं है उतरते जाएं गहरे गहरे कुएं में एक घड़ी ऐसी आ जाएगी कि इंकार करने को कुछ भी ना बचेगा सन्नाटा और शून्य रह जाएगा आ गई अंतर गुफा जहां अब ये भी कहने को नहीं बचा कि ये भी नहीं है वही उसी क्षण उसी क्षण वो विस्फोट हो जाता है जिसमें प्रभु का अनुभव होता है बस वो अनुभव एक क्षण को हो जाए फिर निरंतर श्वास श्वास रोए रोए उठते बैठते सोते जागते वो गूंजने लगता है तब है स्मरण निरंतर और कृष्ण कहते हैं ऐसे निरंतर स्मरण को उपलब्ध व्यक्ति ही मुझ में प्रतिष्ठित होता प्रभु में प्रतिष्ठित होता या उल्टा कहें तो भी ठीक कि ऐसे व्यक्ति में ऐसे निराकार शून्य हो गए व्यक्ति में ऐसे सतत सुरति से भर गए व्यक्ति में प्रभु प्रतिष्ठित हो जाता है हिस्सा तो शरीर है ऊर्जा का जिसके योग ने सूत्र खोजे दूसरा हिस्सा नया मन न्यू माइंड पैदा करने की प्रक्रियाएं हैं जो योग ने खोजी पहले प्रयोग के लिए योगासन है प्राणायाम है मुद्राएं हैं दूसरे प्रयोग के लिए ध्वनि शब्द और मंत्रों का प्रयोग है तो मंत्र योग की पूरी लंबी व्यवस्था है हमें ख्याल में भी नहीं है कि हमारा चित्त जो है वो ध्वनियों से चलता है ध्वनियों से ओंकारनाथ ठाकुर इटली में मुसोलनी के मेहमान थे भारत के एक बड़े संगीतज्ञ मुसोलनी ने ऐसे ही मजाक में भोजन पर निमंत्रित किया था ठाकुर को मजाक में भोजन करते वक्त मुसोलनी ने कहा कि मैं सुनता हूं कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो जंगली जानवर आ जाते गौए नाचने लगती मोर पंख फैला देते ये कुछ मुझे समझ में नहीं आता कि संगीत से ये कैसे हो सकता है ओंकानाथ ठाकुर ने कहा कि कृष्ण जैसी मेरी सामर्थ्य नहीं संगीत के संबंध में उतनी मेरी समझ नहीं सच तो यह है कि संगीत के संबंध में कृष्ण जैसी समझ पृथ्वी पर फिर दूसरे आदमी की नहीं रही है लेकिन थोड़ा बहुत काखागा जो मैं जानता हूं वो मैं आपको करके दिखा दूं कि समझाऊं मुसोनी ने कहा समझाने में तो कोई सार नहीं है तुम कुछ करके ही दिखा दो तो कुछ न था हाथ में खाना ले रहे थे तो कांटा चम्मच हाथ में थी सामने चीनी के बर्तन प्यालियां थी ओंकारनाथ ठाकुर ने वो प्यालियां और बर्तन चम्मच कांटे से बजाना शुरू कर दिया पांच मिनट सात मिनट और मुसोलनी की आंख झप गई और जैसे वो नशे में आ गया और उसका सिर टेबल से टकराने लगा जोर से बजने लगे बर्तन और मुसोलनी का सिर और जोर से टकराने लगा और जोर से बजने लगे बर्तन और फिर मुसोलनी चिल्लाया कि रोको क्योंकि मैं सिर को नहीं रोक पा रहा हूं रोका तो सिर लहूलुहान हो गया मुसोली ने अपनी आत्मकथा में लिखवाया है कि मैंने जो वक्तव्य दिया था उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं जरूर कृष्ण की बांसुरी से जंगली जानवर आ गए होंगे जबकि एक सभ्य आदमी का सिर सारी कोशिश करके भी नहीं रुक सकता है और सिर्फ कांटा चम्मच बर्तन पर बजाया जा रहा कोई बड़ा वाद्य चित्त की सूक्ष्मतम तरंगे ध्वनि की तरंगे ध्वनि से हम जीते अभी पश्चिम में इस पर बहुत काम शुरू हुआ साउंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्वनि शास्त्र पर क्योंकि पश्चिम में पागलपन रोज बढ़ता जा रहा है और अब साउंड इलेक्ट्रॉनिक्स के समझने वाले लोग कहते हैं कि उसके बढ़ने का कारण ट्रैफिक की ध्वनियां हैं सड़क पर जो ध्वनियां हो रही हॉर्न हार्न बज रहे हैं कार निकल रही है भोंपू बज रहे हैं ट्रक निकल रहे हैं हवाई जहाज उड़ रहे हैं सुपरसोनिक उड़ रहे हैं जम्बू जेट उड़ रहे हैं वो सब जो आवाजें पैदा कर रहे हैं उन ध्वनियों को ये मन नहीं सह पा रहा विक्षिप्त हो रहा है अगर किन्हीं ध्वनियों को सुन के आदमी पागल हो सकता है तो क्या ये मानने में बहुत कठिनाई है कि किन्हीं ध्वनियों को सुनकर आदमी शांत हो जाए अगर किन्हीं ध्वनियों को सुनकर आदमी का मन विक्षिप्त हो सकता है तो क्या ये मानने में बहुत अड़चन होगी कि किन्हीं और ध्वनियों को विपरीत ध्वनियों को सुनकर मनुष्य का मन समाधिस्थ हो जाए मंत्र योग उसकी चेष्टा है और इस तरह की ध्वनिया मंत्र योग ने खोजी जिन ध्वनियों का उच्चार आंतरिक उच्चार हृदयगत उच्चार प्राणगत उच्चार मन को नई शक्ल देना शुरू कर देता नया पैटर्न प्रत्येक ध्वनि का अपना पैटर्न है अपना ढांचा है आप कभी ऐसा करें कि एक पतले झीने कागज पर रेत के दाने बिछा दें फिर नीचे से जोर से कहें राम और रेत के दाने हिलेंगे और कागज पर एक पैटर्न बन जाएगा आप कितनी ही बार राम कहें वही पैटर्न रेत के कणों पर बनेगा कहें अल्लाह दूसरा पैटर्न बनेगा फिर कितनी ही बार अल्लाह कहें उस कागज के ऊपर वही दूसरा पैटर्न दोहरेगा फिर एक आध कोई गंदी गाली देके भी देखे उसका भी अपना पैटर्न बनेगा और एक और मजे की बात है कि गंदी गाली का जो पैटर्न बनेगा उसके ऊपर वो बहुत कुरूप होगा और राम का जो पैटर्न बनेगा बहुत समायोजित संतुलित सुंदर अनुपात में होगा अल्लाह का जो पैटर्न बनेगा बहुत सुंदर बहुत समायोजित आप एक एक शब्द को उस कागज के नीचे दोहरा के देखें कि उसका पैटर्न कैसा बनता है जो पैटर्न रेत के दानों पर बन रहा है वही आपके चित्त में भी बनता है आपका चित्त एक बहुत रेत के दाने तो कुछ भी नहीं आपका चित्त तो सबसे ज्यादा संवेदनशील वस्तु है इस पृथ्वी पर छोटी सी ध्वनि तरंग उसको रूप देती है हम जो शब्द सुन रहे हैं जो बातें सुन रहे हैं जो गीत सुन रहे हैं रास्ते पर आवाजें सुन रहे हैं वो हमारे एक तरह के मन को निर्मित करते हैं योग कहता है एक नए तरह का मन चाहिए पड़ेगा अगर परमात्मा की तरफ जाना है तो उन ध्वनियों का उपयोग करो जिन ध्वनियों से परमात्मा की तरफ जाने वाला लयबद्ध मन निर्मित हो जाए और इसीलिए एक शब्द को ही निरंतर दोहराने की प्रक्रियाएं ईजाद की गई उसका कारण था कि वो पैटर्न उस शब्द से बनने वाला पैटर्न फिर हो जाए मन पर मन पर बैठ जाए मन उसको इम्बाइब कर ले पी ले मन उसके साथ एक एकाकार हो जाए तो नया मन निर्मित होना शुरू हो जाए ध्वनि शास्त्र चित्त के रूपांतरण की बड़ी अद्भुत बड़ी अद्भुत कुंजियां खोज लिया है हजारों साल उस तरफ मेहनत की गई है तो दूसरा तत्व योग का है ध्वनि पहला तत्व है ऊर्जा दूसरा तत्व है ध्वनि और तीसरा तत्व है ध्यान अटेंशन दिशा चेतना उसी दिशा में बहती है जिस तरफ चेतना को हम उन्मुख करते हैं जहां उन्मुख करते हैं वहीं चेतना बहती है और जिस तरफ चेतना बहती है उस तरफ बहती है और शेष तरफ बहना उसका बंद हो जाता है परमात्मा की तरफ कैसे बहे क्योंकि परमात्मा की कोई दिशा नहीं है ख्याल रखना मैं यहां बोल रहा हूं तो आपका ध्यान मेरी तरफ बहेगा लेकिन शेष सब तरफ बंद हो जाएगा अगर कोई पीछे से आवाज कर दे तो आपका ध्यान चौंक के उस तरफ बहेगा लेकिन तब तक आपके संबंध मुझसे टूट जाएंगे लेकिन परमात्मा की तो कोई दिशा नहीं है सब दिशाओं में वो व्याप्त है दिशाहीन दिशातीत तो परमात्मा को हम किस दिशा में खोजें कहां ध्यान ले जाएं? इस जगत में और कुछ भी खोजना हो तो दिशा है परमात्मा की तो कोई दिशा नहीं उसे हम कैसे खोजें तो ऐसी ध्वनिया पैदा की योग ने जो दिशाहीन है जैसे ओम ये दिशाहीन ध्वनि है अगर आप ओम का पाठ करें तो ये ध्वनि सर्कुलर है इसलिए ओम का जो प्रतीक बनाया वो भी सर्कुलर है वर्तुलाकार है अगर आप भीतर ओम की ध्वनि करें तो आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे मंदिर के ऊपर गुंबज होती है गोल वो गोल गुंबद योम ओम की ध्वनि से जुड़ के बनाई गई है वो जो मंदिर के ऊपर अर्ध गोलाकार छप्पर है जब आप भीतर जोर से ओम का पाठ करेंगे तो आपको अपने सिर और चारों तरफ एक वर्तुलाकार स्थिति का बोध होगा दिशाहीन ये ओम कहीं से आता हुआ नहीं मालूम पड़ेगा सब कहीं से आता हुआ और सब कहीं जाता हुआ मालूम पड़ेगा ये एक अद्भुत ध्वनि है जो योग ने खोजी इस ध्वनि के मुकाबले जगत में कोई दूसरी ध्वनि नहीं खोजी जा सकी इसे इसलिए मूल ध्वनि बीज ध्वनि इस वर्तूलाकार स्थिति में आप परमात्मा की तरफ उन्मुख होंगे अन्यथा आप उन्मुख न हो सकेंगे कोई ना कोई चीज आपको खींचती रहेगी अपनी तरफ कोई ना कोई दिशा आपको पुकारती रहेगी दिशा मुक्त होंगे तो भीतर की तरफ यात्रा शुरू होगी योग के सतत अभ्यास से कृष्ण कहते हैं अर्जुन को परमात्मा में प्रतिष्ठा मिलती है पिता हम जगतो माता धाता पिमः वेद्यम् पवित्र यजुरेवाच गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुरा प्रभव निधान बीजम बीजमव्ययम् हे अर्जुन मैं ही इस संपूर्ण जगत का ठाता अर्थ धारण करने वाला पिता माता और पितामह हूँ और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ और हे अर्जुन प्राप्त होने योग्य गंतव्य तथा भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी सबका साक्षी सबका वास स्थान शरण लेने योग्य तथा ही करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार निधान अर्थात प्रलय काल में सबका जिसमें लय होता है अविनाशी बीज कारण भी मैं ही हूँ कृष्ण कहते हैं वो तीनों वेद मैं ही हूँ और जानने योग पवित्र ओंकार में हूँ अतीत की बात कही कि ये मैं हूं अतीत की सारी श्रृंखला में हूं I am the past the whole past पूरा बीता हुआ सब मैं हूं और तत्क्षण भविष्य की बात कहते हैं कि जानने योग्य ओंकार भी मैं हूं ओंकार का अनुभव इस जगत का आत्यंतिक अंतिम अनुभव है कहना चाहिए द अल्टीमेट फ्यूचर जो हो सकती है आखिरी बात वो है ओंकार का अनुभव तो कृष्ण कहते हैं भविष्य भी मैं हूं कहते हैं अतीत ही मैं नहीं हूं तुम्हारा पिता ही मैं नहीं हूं पिता का पिता ही मैं नहीं हूं तुम्हारी जो भी संभावना है भविष्य की वो भी मैं हूं तुम जो हो सकते हो वो भी मैं हूं तुम जो थे वो मैं हूं ही तुम जो हो वो मैं हूं ही तुम जो हो सकते हो वो फूल जो अभी नहीं खिला खिलेगा वो भी मैं हूं और वो जो बीज अभी नहीं लगा लगेगा वो भी मैं हूं इस जगत का अतीत ही मैं नहीं हूं इस जगत की संपूर्ण संभावना भी मैं हूं जो कुछ भी हो सकेगा वो भी मैं हूं क्योंकि अगर परमात्मा सिर्फ अतीत है और भविष्य नहीं अतीत तो जा चुका मर चुका हो चुका मौलिक रूप से परमात्मा को हमारा भविष्य होना चाहिए तो ही आशा सार्थक आशा का जन्म होता है तो ही सार्थक अभीपसा का उस महत्वाकांक्षा का जो अंतिम को अनुभव करना चाहती है कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारा भविष्य भी हूं और विश्व में जो अंतिम घटना घट सकती है वो वो कहते हैं पवित्र ओंकार में हूं ओंकार का अर्थ जिस दिन व्यक्ति अपने को विश्व के साथ एक अनुभव करता है उस दिन जो ध्वनि बरसती है जिस दिन व्यक्ति का आकार में बंधा हुआ आकाश निराकार आकाश में गिरता है जिस दिन व्यक्ति की छोटी सी सीमित लहर सीम सागर में खो जाती है उस दिन जो संगीत बरसता है उस दिन जो ध्वनि का अनुभव होता है उस दिन जो मूल मंत्र गूंजता है उस मूल मंत्र का नाम ओंकार है ओंकार जगत की शांति में गूंजने वाले संगीत का नाम है संगीत दो तरह के एक संगीत जिसे पैदा करने के हमें स्वर उठाने पड़ते हैं शब्द जगाने पड़ते हैं ध्वनि पैदा करनी पड़ती है इसका अर्थ हुआ क्योंकि ध्वनि पैदा करने का अर्थ होता है कि कहीं कोई चीज घर्षण करेगी तो ध्वनि पैदा होगी जैसे मैं दोनों ताली बजाऊं तो आवाज पैदा होगी ये दो तालियों के बीच जो घर्षण होगा जो संघर्ष होगा उससे आवाज पैदा होगी तो हमारा जो संगीत है जिससे हम परिचित हैं वो संगीत संघर्ष का संगीत है चाहे ओट से ओट टकराते हो चाहे कंठ के भीतर की मांसपेशियां टकराती हो चाहे मेरे मुंह से निकलती हुई वायु का धक्का आगे की वायु से टकराता हो लेकिन टकराहट से पैदा होता है संगीत हमारी सभी ध्वनिया टकराहट से पैदा होती हम जो भी बोलते हैं वो एक व्याघात है एक डिस्टरबेंस है ओंकार उस ध्वनि का नाम है जब सब व्याघात खो जाते हैं सब तालियां बंद हो जाती हैं सब संघर्ष आता है सारा जगत विराट शांति में लीन हो जाता है भी उस सन्नाटे में एक ध्वनि सुनाई पड़ती वो सन्नाटे की ध्वनि है वो शून्य का स्वर है उस क्षण सन्नाटे में जो ध्वनि गूंजती है उस ध्वनि का नाम ओंकार है अब तक हमने जो दुनिया जानी है वो पैदा हुई है अकेली एक ध्वनि है जो पैदा की हुई नहीं है जो जगत का स्वभाव है उस ध्वनि का नाम ओंकार है इस ओंकार को कृष्ण कहते हैं ये अंतिम भी मैं हूं जिस दिन सब खो जाएगा जिस दिन कोई स्वर नहीं उठेगा जिस दिन कोई अशांति की तरंग नहीं रहेगी जिस दिन जरा सा भी कंपन नहीं होगा सब शून्य होगा उस दिन जिसे तू सुनेगा वो ध्वनि भी मैं ही हूं सबके खो जाने पर भी जो शेष रहेगा वो मैं हूं या जब सब खो जाता है तब भी मैं शेष रह जाता हूं जब कुछ भी नहीं बचता तब भी मैं बच जाता हूं मेरे खोने का कोई उपाय नहीं वो ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं मेरे खोने का कोई उपाय नहीं मैं मिट नहीं सकता हूं क्योंकि मैं कभी बना नहीं हूं मुझे कभी बनाया नहीं गया है जो बनता है वो मिट जाता है जो जोड़ा जाता है वो टूट जाता है जिसे हम संगठित करते हैं वो बिखर जाता है लेकिन सदा से है वो सदा रहता है ये ओंकार का अर्थ है द बेसिक रियलिटी वो जो मूलभूत है जो सदा रहता है उसके ऊपर रूनते हैं और मिटते हैं संघातित होते हैं और बिखर जाते हैं संगठन खड़े होते हैं और टूट जाते हैं लेकिन वो बना रहता है वो बना ही रहता है ये जो सदा बना रहता है इसकी जो ध्वनि है इसका जो संगीत है उसका नाम ओंकार है ये मनुष्य के अनुभव की आत्यंतिक बात है ये परम अनुभव है इसलिए आप ये मत सोचना कि आप बैठ के ओम ओम का उच्चार करते रहें तो आपको ओंकार का पता चल रहा है जिस ओम का आप उच्चार कर रहे हैं वो तो उच्चार ही है वो तो आपके द्वारा पैदा की गई ध्वनि है इसलिए धीरे धीरे ओंठ को बंद करना पड़ेगा ओंठ का उपयोग नहीं करना पड़ेगा फिर बिनाट के भीतर ही ओम का उच्चार करना लेकिन वो भी असली ओंकार नहीं है क्योंकि अभी भी भीतर मांसपेशियां और हड्डियां काम में लाई जा रही उन्हें भी छोड़ देना पड़ेगा भीतर मन में भी उच्चार नहीं करना होगा तब एक उच्चार सुनाई पड़ना शुरू होगा जो आपका किया हुआ नहीं जिसके आप साक्षी होते हैं करता नहीं होते जिसको आप बनाते नहीं जो होता है आप सिर्फ जानते हैं जिस दिन आप अपने भीतर ओम की उस ध्वनि को सुन लेते हैं जो आपने पैदा नहीं की किसी और ने पैदा नहीं की हो रही है आप सिर्फ जान रहे हैं वो प्रतिपल हो रही है वो हर घड़ी हो रही है लेकिन हम अपने मन में इतने शोरगुल से भरे हैं कि वो सूक्ष्मतम ध्वनि सुनी नहीं जा सकती वो प्रतिपल मौजूद है वो जगत का आधार है इस संबंध में एक बात समझ लेनी जरूरी है पश्चिमी मनोविज्ञान पश्चिमी विज्ञान पश्चिम की समस्त खोज इस नतीजे पर पहुंची है कि जगत का जो आत्यंतिक आधार है वो विद्युत है इलेक्ट्रिसिटी है और इसलिए पश्चिम का आधुनिक चिंतन कहता है कि ध्वनि मूल नहीं है विद्युत मूल है और ध्वनि साउंड भी विद्युत का एक प्रकार है साउंड जो है ध्वनि जो है वो भी विद्युत का ही एक प्रकार है ए मोड लेकिन पूरब की बात बिल्कुल ही भिन्न है पूरब कहता है कि साउंड ध्वनि जो है वो अस्तित्व का मूल उपकरण है और विद्युत जो है वो ध्वनि का ही एक प्रकार है एमोड पश्चिम विद्युत को मूल मानता है ध्वनि को विद्युत का ही एक रूप पूरब ध्वनि को मूल मानता है और विद्युत को ध्वनि का ही एक रूप इसलिए पूरब में वे लोग हुए जिन्होंने ध्वनि के माध्यम से दिए जला दिए जिन्होंने एक राग गाया बुझा दिया जला क्योंकि पूरब की मान्यता इस ये कथी हो कि न हो पूरब की मान्यता यह है कि विद्युत ध्वनि का ही एक रूप है तो अगर ध्वनि एक खास ढंग से चोट की जाए तो आग जल जानी चाहिए अगर ध्वनि एक खास ढंग से की जाए तो आकाश में बिजली कड़कने लगनी चाहिए अगर अगर विद्युत ध्वनि का ही एक रूप है तो ध्वनि के तरंगों के आघात से अग्नि का जन्म जाना चाहिए भविष्य तय करेगा इन दोनों मान्यताओं में क्या क्या संभावना है जहां तक मेरा संबंध है मैं मानता हूं ये वैसा ही बचकाना है जैसा कुछ लोग मुर्गी और अंडे के बाबत किए रहते हैं कुछ लोग कहते हैं मुर्गी पहले है और अंडा बाद में कुछ लोग कहते हैं अंडा पहले है और मुर्गी बाद में मगर दोनों ना समझ क्योंकि जब भी हम मुर्गी कहते हैं तो उसके पहले अंडा आ ही जाता है और जब भी हम अंडा कहते हैं तो उसके पहले मुर्गी आ ही जाती इसलिए ज्यादा उचित हो कि हम मुर्गी और अंडे में पहले कौन है इसकी फिक्र छोड़ें क्योंकि कोई भी पहले हो नहीं सकता कैसे अंडा पहले होगा मुर्गी के कैसे होगा उसके होने के लिए ही मुर्गी की जरूरत जाती है कैसे मुर्गी पहले अंडे के उसके होने के लिए ही अंडे की जरूरत पड़ जाती इसलिए शायद कहीं भाषा की भूल है लिंग्विस्टिक भूल है असल में अंडा और मुर्गी दो चीजें नहीं है अंडा और मुर्गी एक ही चीज के दो रूप है ऐसा कहना चाहिए कि अंडा जो है वो छिपी हुई मुर्गी है मुर्गी जो है वो प्रकट हो गया अंडा है इनको दो में बांटने की बात ही गलत है दो में बांटने से फिर कभी हल नहीं होता मुझे ऐसा ख्याल में आता है कि विद्युत और ध्वनि के बीच ठीक वैसा ही संबंध है इसलिए ध्वनि के बिना विद्युत नहीं हो सकती और विद्युत के बिना ध्वनि नहीं हो सकती लेकिन पूर्व व पश्चिम में ये बुनियादी फर्क क्यों आया उसका कारण है उसका कारण कीमती है वो समझ लेना चाहिए वो कारण इसलिए है कि पश्चिम ने जो खोज की है वो पदार्थ को तोड़कर की है पदार्थ को तोड़ा आखिरी परमाणु की खोज की कि कौन सी चीज से पदार्थ बना है विद्युत मिली पूरब ने जो खोज की है वो पदार्थ को तोड़कर नहीं की है अपने ही मन को तोड़कर की है ध्यान रखें matter has been analyse in the west and mind in the east अगर आप पदार्थ को तोड़ेंगे तो जो अंतिम अणु हाथ में आने वाला है वो विद्युत का होगा अगर आप मन को तोड़ेंगे तो जो अणु हाथ में आने वाला है वो ध्वनि का होगा किसी न किसी दिन पदार्थ का जो अंतिम अणु है वो और मन का जो अंतिम अणु है वो वो एक ही सिद्ध होंगे या एक के ही दो रूप सिद्ध होंगे अगर मुझसे पूछें तो मैं ऐसा कहूंगा कि वो जो पदार्थ का अणु है वो अप्रगट मन है और वो जो मन का अणु है वो प्रकट हो गया पदार्थ है परमाणु भी पदार्थ का छिपा हुआ मन है ए हिडन माइंड क्षुद्रतम में विराट छिपा हुआ है और विराट को भी प्रकट होना हो तो क्षुद्र का ही सहारा है ओंकार कह के कृष्ण कहते हैं कि मैं वो परम अस्तित्व जहां केवल ध्वनि का साम्राज्य रह जाता है जो कभी पैदा नहीं हुई और कभी मरी नहीं है जो अस्तित्व का मूल आधार है उस संगीत के सागर का नाम ओंकार है उस तक पहुंचना हो तो अपने मन से सब ध्वनिया समाप्त करनी चाहिए अपने मन से एक एक ध्वनि को छोड़ते जाना चाहिए एक एक शब्द को एक एक विचार को और मन की ऐसी अवस्था ले आनी चाहिए जब मन निर्ध्वनि हो जाए साउंडलेस हो जाए और जिस दिन आप पाएंगे कि मन हो गया ध्वनि शून्य उसी दिन आप पाएंगे ओंकार प्रकट हो गया ओंकार वहां नित हो ही रहा था ओंकार का वहां बज ही रही थी सदा से अनंत से अनादि से लेकिन इतने शोरगुल में व्यस्त थे आप इतने जोर में लगे थे बाहर आपको वो ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती थी आपका ये उपद्रव शांत हो जाए आपका ये बुखार से भरा हुआ दौड़ता हुआ पागलपन शांत हो जाए जो सदा ही भीतर बज रहा है वो अनुभव में आता है वो मन की आत्यंतिक अवस्था है वो उसका परम भविष्य कृष्ण कहते हैं मैं ओंकार हूं और कृष्ण कहते हैं ऋग्वेद सामवेद यजवेद भी मैं ही हूं ओंकार के बाद वेद की बात कहने का कारण है प्रयोजन है कृष्ण कहते हैं वो परम ध्वनि मैं हूं और उस परम ध्वनि को पहुंचने वाले जितने भी शास्त्र हैं वो भी मैं हूं उस परम ध्वनि की ओर जिन जिन शास्त्रों ने इशारा किया है वो भी मैं हूं वो ध्वनि तो मैं हूं ही लेकिन जो इंगित वो चांद तो मैं हूं ही जिन अंगुलियों ने चांद की तरफ इशारा किया है वो अंगुलियां भी मैं ही हूं क्योंकि मेरे अतिरिक्त मेरे उस गोहितम रूप की तरफ इशारा भी कौन कर सकेगा मेरी तरफ उंगली कौन उठा सकेगा सिवाय मेरे तो कृष्ण कहते हैं वेद भी नहीं हूं वेद का अर्थ है वो सब जिसने ओंकार की ओर इशारा किया वेद का अर्थ है वो ज्ञान जिसने उस परम ध्वनि की तरफ ले जाने का मार्ग खोला है उन्होंने तीन का नाम लिया है चार पूर्वक ही ये बात है क्योंकि कल मैंने आपसे कहा तीन प्रकार के मनुष्य तो तीन के वेद होंगे प्रकार के मन हैं तो तीन प्रकार के ज्ञान होंगे तीन प्रकार के टाइप हैं कार हैं तो तीन प्रकार के इशारे होंगे कृष्ण ने कहा कि वो तीनों वेद मैं हूं चाहे कोई कर्म से अपने कर्ता को मिटा तो ओंकार में प्रवेश कर जाता चाहे कोई अपने प्रेम से प्रेमी को डुबा दे तो ओंकार में प्रवेश कर जाता है और चाहे कोई अपने ज्ञान से द्वैत के पार हो जाए अद्वैत में प्रवेश कर जाए तो उस ओंकार को उपलब्ध हो जाता है वेद का अर्थ है वे किताबें नहीं जो वेद के नाम से जानी जाती हैं वेद से अर्थ है वे समस्त इशारे जो मनुष्य जाति को कभी भी और कहीं भी उपलब्ध हुए हों ओंकार की तरफ ले जाते ध्यान रखें वेद शब्द बहुत अद्भुत है उसके बड़े विस्तीर्ण अर्थ हैं वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान इसलिए वेद को किसी किताब में बांधा नहीं जा सकता जहां भी ज्ञान है वहीं वेद है जहां भी इशारा है वहीं वेद उन दिनों तक कृष्ण ने जब ये बात कही तो सारा ज्ञान तीन पुस्तकों में संग्रहित था इसलिए इन तीन पुस्तकों का नाम लिया अगर आज कृष्ण हो तो इन तीन का नाम नहीं लेंगे इसमें कुंड भी सम्मिलित होगा इसमें बाइबिल भी सम्मिलित हो जाएगी इसमें जैन दवेस्था भी जुड़ेगा इसमें लाओसे का ताओते किंग भी आने ही वाला है इन पांच हजार वर्षो में कृष्ण के बाद जो जो इशारे उस ओंकार की तरफ हुए हैं वे भी वेद का हिस्सा हो गए वेद एक विकान धारा है वेद कोई सीमित किताब नहीं है इसलिए वेद का कोई लेखक नहीं है एक एक वेद में सैकड़ों ऋषियों के वचन हैं उस जमाने तक ऋषियों का ज्ञान था वो सब संग्रहित हो गया फिर वेद के दरवाजे बंद हो गए और जिस दिन वेद के दरवाजे बंद हुए उसी दिन हिंदू मुर्दा हो गया उसका दरवाजा खुला ही रहना चाहिए उसमें नए ऋषि होते रहेंगे वचन संग्रहित होते ही चले जाने चाहिए चाहे चाहे वे कहीं भी हों वेद किसी व्यक्ति की किताब नहीं है ये बड़े मजे की बात है वेद न मालूम कितने व्यक्ति का संग्रह उस जमाने तक इतने लोगों ने जाना था उन सबका संग्रह लेकिन फिर द्वार बंद हो गए जब कोई जीवंत होता है तो भयभीत नहीं होता खुले दरवाजे रख के सोता है जब कर्म कमजोर हो जाता है मरने के करीब होता है बूढ़ा हो जाता है तो दरवाजे बंद देता है पहरे लगा देता ये कमजोरी लक्षण है लेकिन जिस दरवाजा बंद होता है उसी दिन ज्ञान तो आगे बढ़ता चला जाता है किताब रुक जाती रुक जाती ठीक वैसी घटना थोड़े दिन पहले फिर घटी उससे आपको समझ आ जाएगी सिखों का वेद है गुरु ग्रंथ नानक के समय उस समय के ज्ञानियों के इशारे सब उसमें संग्रहित किए गए हैं उसमें फिक्र गई कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है उसमें फरीद के भी वचन है उसमें कबीर के भी उसमें दादू के भी उस समय जितने भी फकीर इशारे वाले थे उन सबके वचन संग्रहित लिए गए लेकिन फिर धीरे धीरे बात मरने लगी फिर धीरे धीरे दर सख्त होने लगे फिर उसमें वही सम्मिलित हो सकेगा जो सिख है फिर दसवें गुरु ने बंद कर दिए धर्म कमजोर हो गया फिर दसवें गुरु ने कहा कि इस किताब में आगे नहीं जोड़ा जा सकेगा उसी दिन आप बूढ़ी हो मर गई क्योंकि अब इसमें रोथ नहीं हो सकती लेकिन दस गुरुओं तक ये किताब विकासमान होती रही भी होती रही इसमें जुड़ता रहा ज्ञान एक धारा है जैसे गंगा एक धारा है गंगा अगर कह दे प्राग में आके कि अब ये नाले मुझ में नहीं जुड़ सकेंगे अब कोई मुझ में आगे नहीं जुड़ेगा अब मैं गंगा और एक गंदे नाले नहीं गिरने दूंगी क्योंकि गां कहा पवित्र गंगा और एक साधारण सा ना आके गिर जाए और गंदा कर जाए जिस दिन गंगा ये कहती है कि एक साधारण सा नाला उसको गिर, गिर के गंदा कर देगा उस दिन वो गंगा नहीं क्योंकि गंगा मतलब यह है कि जिसमें भी गिरे गिरते से पवित्र हो जाए अब नाला गंगा को गंदा कर देगा तो नाला ज्यादा शक्तिशाली हो गया जब भी कोई धर्म भयभीत हो जाता है और डरता कुछ मिश्रित ना हो जाए कुछ गलत ना हो जाए इसलिए सब घेराबंदी कर लो उस दिन किताबें बंद हो जाती वेद की जब कृष्ण ने ये बात कही तब ये तीनों किताबें जिंदा किताबें थी अब ये तीनों किताबें जिंदा किताबें नहीं है एक जगह इनके द्वार बंद हो गए अगर वे द्वार खुले होते तो इन्होंने वेद ने जगत के सारे ज्ञान को संग्रहित किया होता जैसे कि आपने देखा होगा वेद वैसी ही चीज थी इस मुल्क में कि आज एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका हर वर्ष उसको नए एडिशन पड़ते हैं क्योंकि ज्ञान विकसित होता है उसे सम्मिलित कर लेना होता है रोज ज्ञान बढ़ता है तो एनसाइक्लोपीडिया को रोज ज्ञान को बढ़ाया जाना पड़ता है उसके पुराने एडिशन बाहर होते जाएंगे रोज ये ज्ञान बढ़ता रहेगा किसी दिन एनसाइक्लोपीडिया वाले ये सोचें कि बस अब हम और ज्ञान को भीतर नहीं आने देंगे उसी दिन एनसाइक्लोपीडिया आउट ऑफ डेट हो उसी दिन मर जाएगा वेद हमारा एनसाइक्लोपीडिया था ओंकार की तरफ जितने इशारे किए गए थे हमने वेद में संग्रहित किए थे तो कृष्ण कहते हैं वो तीनों वेद मैं ही हूं